टोप टोप रसाणी मखी बधू लैया एक ले गया निकारी सबे दुख पैया मोह को भा बैराग ओही को निरीखी अरे हाँ पलटू माया बुरी बलाय जा में परी थी फूलन सेज बिछाए महल किरण रंग अतर फुले लगा सुंदरी संग सूती सूत्रे ख्याति लाय परमयानंद गए अरे हाँ, पलटो खबरी पूत को ना ही काल को फंद है खाला के घर ना ही बात की है डाल भात है नाही खाए के काम की साहब का घर दूर सह जन जानी अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए पहली कब्र खुदा आसिक तब होइए सिर पर कफन बांधी पाव तब दीजिए आसिक को दिन राति नाई है सो वना अरे हाँ पलटो बेदर्दी मासुक दर्द खब खोवना जो तुझको है चाह सजन को दे खना कर्म भरम दे छोड़ी जगत का पेखना बाध सूरत की डोरी शब्द में भी लेगा अरे हाँ पलटो ज्ञान ध्यान की पार ठिकाना मिलेगा कड़ुआ प्याला नाम पियो जो ना जरे देखा देखी पिवे जवान सो भी मरे धर पर सन होया उतारे भू धरे अरे हाँ पलटू थोड़ी टनकी आस धर पर धर करे राम के घर की बात कसोटी खरी है जूठा टीके न कोई आयुके धरीले जियते जो मर जाय शीस हाथ में अरे हाँ पलटो ऐसा मर्द जो हाय परे यहितात्मे हम दीवानों का क्या परिचय कुछ चाव लिए कुछ चाह लिए कुछ कसकन और कराह लिए कुछ दर्द लिए कुछ दाह लिए हम न सीखिए नूतन पथ पर चल दिए प्रणय का कर विनिमय हम दीवानों का क्या परिचय विस्मृति की एक कहानी ले कुछ यौवन की नादानी ले कुछ कुछ आंखों में पानी ले हो चले पराजित अपनों से कल चले जगत को आज विजय हम दीवानों का क्या परिचय हम सूल बढ़ाते हुए चले हम फूल चढ़ाते हुए चले हम धूल उड़ाते हुए चले हम लुटा चले अपनी मस्ती अरमान कर चले कुछ संचय हम दीवानों का क्या परिचय हम चिर नूतन विश्वास लिए प्राणों में पीड़ा पास लिए मर मिटने की अभिलाष लिए हम मिटते रहते हैं प्रतिपल कर अमर प्रणय में प्राण मिले हम दीवानों का क्या परिचय हम पीते और पिलाते हैं हम लुटते और लुटाते हैं हम मिटते और मिटाते हैं हम इस नन्ही सी जगती में बन बन मिट मिट करते अभिनय हम दीवानों का क्या परिचय शाश्वत यह आना जाना है क्या अपना और वीराना है प्री में सबको मिल जाना है इतने छोटे से जीवन में इतना ही कर पाए निश्चय हम दीवानों का क्या परिचय इस छोटे से निश्चय में सारे जीवन का सार समाया हुआ है शाश्वत यह आना जाना है क्या अपना और बिराना है प्री में सबको मिल जाना है इतने छोटे से जीवन में इतना ही कर पाए निश्चय हम दीवानों का क्या परिचय जीवन भला छोटा हो निश्चय छोटा नहीं इस निश्चय के साथ ही जीवन शाश्वत हो जाता है इस निश्चय के साथ ही जीवन छोटा नहीं रह जाता विराट हो जाता इस निश्चय के साथ ही तुम बुन नहीं सागर हो जाते हो इस निश्चय का नाम ही संन्यास है तुम्हारे भीतर ये निश्चय सघन हो जाए कि क्षण भंगुर में उलझ रहना अपने को गमाना है शाश्वत में अपने को गमाना अपने को पाना है इतना संकल्प इतना निश्चय इतना निष्कर्ष और जीवन में क्रांति हो गई फिर तुम बाजार में भी हो तो भी बाजार में नहीं भीड़ में हो फिर भी भीड़ में नहीं भीड़ में भी अकेले हो और बाजार में भी शून्य गुहा में विराजमान फिर विचारों की भीड़ में भी तुम्हारा हृदय अछूता है फिर सब करते हुए भी तुम अकर्ता हो और अकर्ता की ये दशा कर्म के बवंडर में घिरे अकर्ता का ये शून्य भाव सिद्धि है साधना का परम लक्ष्य है इस लक्ष्य की ओर ही पलटू के आज के सूत्र हैं टोप टोप रस आनी मक्खी मधुलाइया एक ले गया निकारी सबे दुख पाइया मोको भा बैरांग ओही को निरख दे अरे हाँ पलटू माया बुरी बलाए तजा में परख के मक्खी बूंद बूंद मधु संचय करती है और फिर आता है मधु को इकट्ठा करने वाला लगा देता है आग मधुमक्खियों के छत्ते में बूंद बूंद हजारों मधुमक्खियों ने जो इकट्ठा किया था वह एक मसाल ची आकर आग लगाकर सब लूट के ले जाता है पलटू कहते ऐसी ही जिंदगी है बूंद बूंद तुम इकट्ठा करते हो फिर आती मौत सब झटक के ले जाती मधुमक्खियां न समझें क्षमा की जा सकती है लेकिन तुम तो क्षमा भी नहीं किए जा सकते फिर ये भी हो सकता है कि मधुमक्खियों का छत्ता मधु संग्रहित करने वालों से बच भी जाए लेकिन तुम तो मौत से न बच सकोगे सभी छत्ते लुटते भी नहीं दूर वृक्षों की शाखाओं में पहाड़ों में छिपित बहुत से छत्ते आदमी के हाथ के बाहर भी रह जाते लेकिन मौत की पहुंच के बाहर कौन है सात समुद्रों के पार छिपो कि पहाड़ों की गुफाओं में चले जाओ कि पाताल में उतर जाओ मौत तो हर जगह पहुंच जाएगी मौत तो उसी दिन आ गई जिस दिन तुम जन्मे थे मौत तो उसी दिन से तुम्हारे पीछे छाया की तरह चल रही तुम जहां जाओगे वहीं पहुंच जाएगी मौत बाहर नहीं घटती मौत तो भीतर बढ़ रही वो तो तुम्हारी श्वास श्वास में रमी वो तो तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में आ रही हर धड़कन उसके ही पदों की चाप है और हर श्वास उसे करीब ला रही तुम कुछ भी करो सो की जागो बाजार में रहो कि मंदिर में भेद नहीं पड़ता मौत प्रतिपल पास से पास चली आ रही तुम जो भी इकट्ठा करोगे सब छीन लिया जाएगा टोप टोप रस आनी मक्का मक्खी मधुलाइया कितनी मेहनत करती मधुमक्खियां हजारों हजारों फूलों पर भटकती कण कण फूलों का पराग इकट्ठा करती मीलों की यात्रा करती तब मधु छत्ता बनता तब मधु छत्ता भरता और एक क्षण में लुट जाता है सब दो क्षण भी नहीं लगते लुटने में एक ले गया निकारी सब दुख पाइया वो कौन है एक मृत्यु की तरफ इशारा है तुमने जो घर बनाया है वो मधु का छत्ता है ला रहे हो बड़ा श्रम करके ला रहे हो धन पद प्रतिष्ठा बड़ा संघर्ष बड़ी स्पर्धा बड़ी जलन ईर्षा गला घोट प्रतियोगिता है आसान नहीं है मधुमक्खियां तो शायद आसानी से फूलों से सौरभ इकट्ठा कर लेती होंगी लेकिन आदमी की दुनिया में तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि सभी महत्वाकांक्षी प्रज्वलित महत्वाकांक्षा भयंकर संघर्ष है तब कहीं छीन झपट करके थोड़ा सा तुम ला पाओगे और मजा यह है कि सब मौत छीन लेगी तुम इकट्ठा करोगे और मौत रिक्त कर देगी ये इकट्ठा करना बड़ी नासमझी का हुआ है ये बात बड़ी मूढ़ता की हुई जो मटकी फूट ही जाने वाली है उसको भरने में क्यों समय नष्ट कर रहे हो मोकोभा बैराग ओही को निरखिए पलटू कहते हैं मधुमक्खियों को देखकर उनके छत्तों को लुटते देखकर मुझे तो वैराग्य हो गया जिसने मृत्यु को पहचाना उससे वैराग्य हो ही जाएगा मृत्यु से आंखें चार कर लेना वैराग्य का जन्म है जो जीवन को थोड़ा गौर से देखेगा मृत्यु को छिपा हुआ पाएगा जीवन तो घूंघट जैसा है पीछे तो मौत छिपी जीवन तो चिलमन जैसा है पीछे तो मौत छिपी जहां भी पर्दा उठाओगे मौत को छिपा पाओगे और मौत ने बहुत तरह के वेश पहन रखे इसलिए धोखा हो जाता है लेकिन जो जरा सजग होकर देखेगा धोखा नहीं खाएगा जिसका धोखा टूट गया जिसे एक बात समझ में आ गई कि इस जीवन में कुछ भी इकट्ठा करो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा हाथ खाली के खाली रहेंगे प्राण रिक्त के रिक्त रहेंगे उसके जीवन में वैराग्य पैदा न होगा तो क्या होगा राग का अर्थ होता है लूट लो जितना लूटते बन सके भर लो अपने को जितना भर सको भोग लो जितना भोग सको ये महा अवसर मिला है भोगने का वैराग्य का अर्थ होता है कितना ही भरो मौत खाली कर देगी इसलिए भरने के लिए किया गया सारा श्रम व्यर्थ चला जाएगा तो कुछ ऐसे की तलाश करो जो मौत न छीन सके वैराग्य का अर्थ होता है मृत्यु के पार भी जो तुम्हारे साथ जा सके चिता में जलेना अस्त्र शस्त्र जिसे भेद न सके ऐसी कोई संपदा खोज लो और ऐसी संपदा भी है लेकिन जो क्षण भंगुर में उलझे रह जाते वे शाश्वत से चूक जाते रामकृष्ण को एक बार किसी ने आके कहा कि आप महात्यागी रामकृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं बाबा ऐसी बात ना कहो महात्यागी तुम हो वह आदमी तो बहुत चौंका वो कलकत्ते का सबसे धनीमानी आदमी था राग रंग ही उसकी जिंदगी थी भोग ही उसका योग था उसने कहा आप क्या कहते हैं मजाक करते हैं व्यंग करते हैं मुझ भोगी को त्यागी कहते हैं आप महात्यागी हैं रामकृष्ण का नहीं नहीं मैंने शाश्वत को पकड़ा तुमने क्षण को अब तुम ही कहो त्यागी कौन मैंने वह खोजा जिसे मौत न छीन सकेगी तुम उसे पकड़े बैठे हो जिसका छिन जाना सुनिश्चित है तुम त्यागी हो शाश्वत को छोड़ के क्षण को पकड़ा है मैंने एक आदमी के संबंध में सुना है एक समुद्र तट पर वो भीख मांगता था उसके भीख मांगने का ढंग बड़ा अनूठा था जो भी कोई उसके सामने रुपए का नोट करे दस रुपए का नोट करे सौ रुपए का नोट करे और एक हाथ में दस पैसे का सिक्का और कहे कि चुन लो वो हमेशा दस पैसे का सिक्का चुन लेता लोग हंसते खिलखिलाते मजाक उड़ाते कि दुनिया में मूड बहुत देखे मगर ऐसा मूड नहीं देखा सौ रुपए का नोट छोड़ देता है दस पैसे का सिक्का चुन लेता वर्षों से वो यही कर रहा था लोग बड़े हैरान थे कि इसको कभी अकल आएगी कि नहीं आएगी एक दिन एक आदमी ने एकांत देख उससे पूछा कि मेरे भाई बीस साल से मैं तुझे जानता हूं तू यही धंधा कर रहा है शुरू शुरू किया तो हम समझे कि तुझे पता नहीं लेकिन अब तो तू जानता है भली भांति कि रुपये दस रुपये सौ रुपये के नोट उनको तू छोड़ देता और दस पैसे के सिक्के उठा लेता लोग हंसी मजाक करते वो भिक मंगा हंसने लगा उसने कहा तुमने पूछा तो मैं कह देता लेकिन किसी और को मत बताना मैं भी जानता हूं कि रुपए का नोट है दस रुपए का नोट है सौ रुपए का नोट मगर एक बार ले लूंगा कि खेल खत्म फिर कौन आएगा खेल खेलने ये मूढ़ इसीलिए तो खेलने आते हैं ये सोचते मैं मूढ़ ये बीस साल से धंधा चल रहा है दिन भर में दस पंद्रह रुपए इकट्ठे कर लेता हूं और क्या चाहिए एक दिन भी मैंने अगर नोट सुन लिया और दस पैसे का सिक्का छोड़ दिया तो बस उसी दिन धंधा समाप्त हो जाएगा वो नोट कितने दिन काम आएगा ये बीस साल से चल रहा है और जब तक जिंदा हूं चलता रहेगा तुम तो मुझे मूढ़ मत समझना जो यहाँ आते हैं और दस रुपए का नोट और दस पैसे का सिक्का मुझे दिखलाते हैं वो मूड दुनिया बहुत अजीब है यहाँ कौन मूड है ये तय करना इतना आसान नहीं सबकी अपनी परिभाषाएं सांसारिक से पूछोगे तो आध्यात्मिक मूल छोड़ रहा जीवन का रस रंग राग चारवाक से पूछोगे तो कहेगा पागल हो ऋणम कृत्वा धितम पिवे अगर ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो भी ऋण लो घबराओ मत क्योंकि मरने के बाद कौन लौट कर आया है किसको ऋण चुकाना है कोई नहीं बचता मिट्टी मिट्टी में मिल जाती अच्छा करो कि बुरा कुछ साथ नहीं तुम ही नहीं बचते तो कुछ हाथ में नहीं बचता हाथ ही नहीं बचता तो चोरी करना पड़े उधार लेना पड़े धोखा देना पड़े फिक्र ना करो दिल खोल के दो धोखा दो चोरी करो बेईमानी करो सब चलेगा मगर भोग लो ये चार दिन की रात है फिर अंधेरी रात ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात चारवाक की दृष्टि में आध्यात्मिक तो मूड है हालांकि तुम में से बहुत कम लोग सोचते हैं कि वे चारवाकवादी लेकिन मेरा निरीक्षण ये कि इस दुनिया में सौ में से निन्यानबे प्रतिशत लोग चारवाकवादी चाहे वे मंदिर जाते हो चाहे मस्जिद चाहे गिरजा चाहे गुरुद्वारा इससे भेद नहीं पड़ता उनकी अंतर दशा क्षण भंगुर को पकड़ने की जो शाश्वत को पकड़ने चलता है उसे तो वो भीतर भीतर हंसते पागल है दीवाना कैसा शाश्वत मृत्यु के पार कुछ है यही सब कुछ है उस पार का किसी को भरोसा नहीं हाँ भय के कारण डर के कारण कभी मंदिर में पूजा के दो फूल भी चढ़ा आते हो कि कौन जाने अगर हुआ उस पार कुछ तो कहने को रहेगा कि दो फूल चढ़ाए थे मंदिर में पूजा की थी प्रार्थना की थी जीसस को पुकारा था कृष्ण को पुकारा था उस वक्त याद दिलाने को रहेगा कुछ कर लो थोड़ा सा कभी भिकमंगे को दान दे दो कभी भूखे को भोजन करा दो थोड़ा सा पुण्य भी अर्जित कर लो अगर बचना पड़ा अगर मौत के बाद भी जीवन रहा किसी रूप में तो कुछ संपदा वहां के लिए भी इकट्ठी कर लो थोड़ा बैंक बैलेंस परलोक के लिए भी लेकिन भरोसा किसी को नहीं है कि परलोक है तुम्हारी जिंदगी सबूत नहीं देती कि तुम्हें भरोसा है तुम्हारी जिंदगी तो कुछ और सबूत देती तुम्हारी जिंदगी तो सबूत देती है कि यही सब कुछ है तुम्हारा व्यवहार यही कहता है कि यही सब कुछ है इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा जग में रस की नदियां बहती रसना दो बूंदें पाती है जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है स्वर तालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छीन जाएंगे तब मानवता की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा प्याला है पर पी पाएंगे है ज्ञात नहीं इतना हमको इस पार नियत ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा करने वालों की परवस्ता है ज्ञात किसे जितनी हमको कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं उस पार अभाग्य मानव का अधिकार न जाने क्या होगा कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडर का सत्य भरा उर्मे ऐसी हलचल भर दी दो रात न हम सुख से सोए अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके उस पार नियत का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा संसर्ति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी जब निज प्रीतम का सव रजनी तम की चादर से ढक देगी तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा तब तेरा मेरा नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न कुहक फिर पाएगी बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे अली अबली कलिदल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी जब इतनी रस्म ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन निर्झरणी भूलेगी नर्तन निर्झर भूलेगा निज तलमल सरिता अपना कलकल गायन वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप ही छिप जाना चाहेगा मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नरगण संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएंगे तब प्राण तुम्हारी तंत्री का जड़तार न जाने क्या होगा उतरे इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने दो दिन में खींची जाएगी उषा की साड़ी सिंदूरी पट इंद्र धनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा हम देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है मैं आज चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधा न जाने क्या होगा इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा उस पार का भरोसा आता नहीं आए तो आए भी कैसे उस पार की हमारी आंखों में कोई झलक भी तो नहीं हम इस पार में ऐसे उलझे हमने इस किनारे पर इतने खूंटे गाड़ दिए वासनाओं के इच्छाओं के हमारी आंखें इतनी भर गई हैं इस पार से कि दूर आंखें उठाकर कौन देखे फुर्सत किसे समय किसे अवसर किसे जैसे छोटे मोटे कीड़े मिट्टी में अपने घर बनाते रहते ऐसे ही हम भी मिट्टी में घर बनाते रहते जब तक मृत्यु का दर्शन नहीं हुआ है तब तक हमारे सब घर मिट्टी में बनाए घर है मृत्यु का दर्शन होते ही अमृत की तलाश शुरू होती ठीक कहते हैं पलटू मोको भा बैराग ओही को निरख के आंखें हो देखने वाली तो वैराग पैदा होगा ही सिर्फ अंधे वैराग्य से बच सकते सिर्फ बहरे वैराग्य से बच सकते जिनके पास देखने वाली आंख है सोचने वाला चित्त है वो तो किसी भी बहाने उन्हें वैराग्य हो जाएगा पलटू कहते हैं मधुमक्खियों को मधु इकट्ठा करते देख और फिर एक दिन आता देखा मधु को लूटने वाला और मुझे वैराग्य हो गया तुम कहोगे इतनी छोटी सी बात लाउसू को वैराग्य हुआ वृक्ष से गिरते हुए एक सूखे पत्ते को देखकर सूखा पत्ता वृक्ष से गिर रहा है लाहसुनों से गिरते देखा और उसे याद आया अपनी भी गिरने की बारी आने की कब तक हरे रहेंगे ये वृक्ष का पत्ता अब तक हरा था कल तक हरा था रस से भरा था पक्षी इसके आसपास गीत गाते थे मधुमक्खियां भिन भिनाती थी भवरे डोलते थे आज सूख गया आज न पक्षी कोई गीत गाएगा आज न मधुमक्खियां आएंगी न तितलियां उड़ेंगी आज रसहीन हो गया आज रस के स्रोत से उखड़ गया आज चल पड़ा गिर पड़ा मिट्टी में गिरेगा मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी से ही उठा था मिट्टी में ही वापस लौट आया लाउसू को दिखाई पड़ा हम भी क्या हैं आज हरे कल सुखे आज मदमाते यौवन में कल सब खो जाएगा कुछ बचेगा नहीं पर्याप्त था इतना वैराग्य हो गया मैंने सुना है बंगाल में एक परम साधु हुए मजिस्ट्रेट थे हाईकोर्ट के रिटायर हो गए थे सुबह सुबह घूमने निकले थे लाला बाबू उनका नाम था सूरज निकलने को था और तब कोई महिला अपने घर के भीतर अपने देवर को उठाती होगी कहती थी कि लाला बाबू उठो ऐसे भी बहुत देर हो गई सुबह हो गई सूरज निकलने को है ये समय सोने का नहीं लाला बाबू अब उठो उसे तो बाहर गुजरते इस वृद्ध का कुछ पता भी न था लाला बाबू अपनी लकड़ी लेते घूमने निकले थे वो तो किसी और को उठाती थी अपने देवर को उठाती थी लेकिन लाला बाबू ने बाहर सुना सुबह का सन्नाटा होगा ताजी हवा होगी रात भर के विश्राम के बाद उठे होंगे मन थोड़ा स्थिर होगा सुसमय में किसी शुभ घड़ी में वह वचन उनके कानों में पड़ा लाला बाबू उठो कब तक सोए रहोगे ऐसे भी बहुत देर हो चुकी सूरज उगने उगने को है और जैसे क्रांति हो गई वो घर नहीं लौटे याद आया कि हाँ उठने का समय आ गया सुबह होने के करीब है सूरज निकलने को है जिंदगी तो रात थी गुजर गई अब मौत आती अब कुछ कर लू आगे की तैयारी कर लू अब लौट के क्या जाना है जंगल का रास्ता पकड़ लिया घर के लोगों को खबर लगी भागे बहुत समझाया कि बात क्या हुई उन्होंने कहा कुछ बात नहीं हुई बस समझ में आ गया कि लाला बाबू उठो बहुत देर वैसे ही हो चुकी अब सुबह होने के करीब है लोगों की तो कुछ समझ में ना आया उन्होंने कहा ये ये बात अचानक कैसे दोहराने लगे लाला बाबू उठो उन्होंने कहा अचानक नहीं दोहरा रहा हूं प्रभु का संदेश आ गया कोई महिला जगाती थी अपने देवर को उसे तो शायद पता भी ना हो लेकिन किस बहाने परमात्मा पुकार लेता कुछ कहा नहीं जा सकता पलटू कहते हैं मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ मधुमक्खियों को देखकर बूंद बूंद कण कण इकट्ठा करती कितना श्रम हजारों हजारों मधुमक्खियों का श्रम तब कहीं छत्ता भरता है फिर आता है एक आदमी मसाल जला के लूट ले जाता है ऐसे ही जिंदगी को हम बसाते हैं फिर आती है मौत मसाल लेकर चिता की तरह लूट के ले जाती अरे हाँ पलटू माया बुरी बलाए तजा में परखी के लेकिन एक बड़ी कीमत की बात कहते हैं कि ये मैंने ऐसे ही किसी और की बात सुन के नहीं छोड़ दी माया परख ही के अपने ही अनुभव से जानकर जाग कर होश पूर्वक ये वैराग्य उधार नहीं है ये किन्हीं वैरागियों की चर्चा से नहीं है किसी ने समझाया और मैंने मान लिया ऐसा नहीं है मैंने देखा मैंने जाना मैंने टटोला मैंने जिंदगी की व्यर्थता असारता को पहचाना तब ये वैराग्य फलित हुआ है हम लेकर हृदय अधीर प्राण में पीर नैन में नीर चले हम दीवाने युग युग की बंदी प्राचीरों को चीर चले हम लिए अचल अनुराग हृदय में दाग आह में आग चले हम लिए अनोखा एक निराला एक बेसुरा राग चले हम लिए एक अभिमान एक अरमान एक तूफान चले हम परवाने ले दुनिया से जल मरने का सामान चले हम लेकर एक उसास एक निश्वास एक उच्छ्वास चले जो जन्म जन्म तक बुझ न सके हम लेकर ऐसी प्यास चले हम एक अपरिचित प्राणों से क्षण भर कर प्यार दुलार चले हम मस्ताने इस जगती में कर मस्ती का व्यापार चले हम कुचल हसरतें अपनी सबले हार जीत का दांव चले हम कभी रुलाते कभी हंसाते लेकर एक अभाव चले हम चले झूमते झुकते से झंझा का कुछ आभास लिए हम चले किसी पर कभी कहीं पर मर मिटने का विश्वास लिए हम जला होली का जीवन की खुल खेल मृत्यु से भाग चले हम पाप पुण्य से परे लिए अपना अनुराग विराग चले हम किधर चले क्या बतला दें चल दिए जिधर को राह मिली हम जहाँ तहा होकर निकले कुछ वाह मिली कुछ आह मिली हम चले चल पड़े क्योंकि हमें चलने वालों का संग मिला हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला कुछ ढंग मिला हम जग से नाता तोड़ चले हम जग से नाता तोड़ एक से अपना नाता जोड़ चले हम भला बुरा इस जीवन का सब आज यहीं पर छोड़ चले देखोगे तो अनेक से नाता टूटने लगेगा एक से नाता जुड़ने लगेगा देखोगे पहचानोगे तो सत्संग खोजने ही लगोगे हम चले चल पड़े क्योंकि हमें चलने वालों का संग मिला हम ऐसे ही अलमस्तों का कुछ रंग मिला कुछ ढंग मिला हम जग से नाता तोड़ एक से अपना नाता जोड़ चले हम भला बुरा इस जीवन का सब आज यहीं पर छोड़ चले एक अंतर दशा है वैराग्य अपरिग्रह का भाव है वैराग्य मेरा यहां कुछ भी नहीं खेलो अभिनय करो पांसे फेंको शतरंज बिछाओ मगर जानते रहना सब घोड़े झूठे सब हाथी झूठे खेल है ज्यादा गंभीर मत होके पकड़ लेना जो गंभीर हुआ वह रागी जो गैर गंभीर रहा वह विरागी जो उठ के चल पड़े और पीछे लौट न देखे वह विरागी फूलन सेज बिछाए महल के रंग में अतर फुले लगाए सुंदरी संग में सूते छाती लाए परम आनंद है अरे हाँ पलटू खबरी पुत को नहीं काल को फंद है लोग बिछा रहे हैं फूल सेज बना रहे हैं इत्र फुले लगा रहे हैं सुंदर पुरुषों सुंदर स्त्रियों के साथ सपने समझा रहे सौंदर्य को आलिंगन लगाकर सोचते हैं सब पा लिया हड्डी मांस मज्जा की देह सब मिट्टी का खेल है अरे यहां पलटू खबर पूत को ना ही काल को फंद है जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो मौत का जाल है जिसको तुम आलिंगन समझ रहे हो मौत ने ही तुम्हारे गले में हाथ डाला पलटू कहते हैं बचकाना पन्ना करो अरे हाँ पलटू खबर पूछ को ना ही बच्चों इतनी सी बात खबर नहीं जरा होश संभालो थोड़े बालपन से जगो थोड़ा बुद्धूपन छोड़ो ऐसे ही कितने लोग धोखा खा गए ऐसे ही कितने लोग धोखा खा रहे हैं धन्य भागी है वह जो धोखा खाने वालों की इस भीड़ में धोखे से बच जाता है और जग जाता है जो क्षण भंगुर के रस से मुक्त हो जाता है मगर पलटू ये नहीं कह रहे कि तुम मेरी मान के ऐसा करना परख ही के खुद जांच परख कर लो ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है ये जीवन का खरा अनुभव है खाला के घर नहीं भक्ति है राम की दाल भात है नहीं खाए के काम की साहब का घर दूर सहज ना जानिए अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर वचन को मानिए खाला के घर नहीं भक्ति है राम की एक बात कहते हैं याद रखना सत्य की तलाश में चलो तो कोई मौसी के घर नहीं जा रहे हो सत्य की तलाश में चलो तो तैयारी रखना दुस्साहस है सत्य की तलाश इस जगत में सबसे बड़ा अभियान है कारों के लिए नहीं वीरों के लिए है धन तो कोई भी खोज लेता पद कोई भी खोज लेता है बुद्धू भी धनी हो जाते हैं बुद्धू भी पदों पर पहुंच जाते हैं धन और पद का बुद्धि से कोई संबंध नहीं सच तो यह है जिनके पास बुद्धि है वो क्यों धन और पद खोजेंगे बुद्धि है बुद्ध के पास बुद्धि है महावीर के पास बुद्धि है कबीर के पास धन और पद की तलाश नहीं असल में बुद्धू हूं और जिद्दी हूं तो धन और पद की तलाश में सफलता मिलना बिल्कुल आसान है दो गुण चाहिए बुद्धूपन और जिद्दीपन फिर जूझ जाते हैं लोग धन और पद की यात्रा में समझदार जाएगा क्यों किस कारण कल की तो खबर नहीं कल सुबह होगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता धन और पद के लिए आज को कोई क्यों गमाएगा अगर खोजना ही है तो उसको खोजें जो आज भी है कल भी है और सदा है मगर उसकी खोज आसान नहीं कठिनाई क्या है कठिनाई उसकी तरफ से नहीं है ये ख्याल रखना नहीं तो भूल हो जाएगी कठिनाई तुम्हारी तरफ से है तुम्हारे चित्त की आदतें इतनी जटिल इतनी उलझी इतनी पुरानी हो गई है कि उन आदतों के बाहर आना कठिन है अन्यथा वह तो सहज इसलिए तुम विरोधाभास मत देखना संत एक और तो कहते हैं कि परमात्मा सहज अभी मिल सकता है इसी क्षण और दूसरी तरफ ऐसा वचन भी बोलते हैं साहब का घर दूर सहज ना जानिए ये दोनों बातें ठीक है इनमें विरोधाभास नहीं है जब साहब की तरफ देखते तो लगता है बिल्कुल सहज मालिक तो मिला ही हुआ है दूर कहा पास से भी पास जब तुम्हारी तरफ देखते तो लगता है साहब बहुत दूर मिलना बहुत मुश्किल तुम्हारी आदतें ऐसी गलत हैं तुम्हारे सोचने समझने के ढंग ऐसे भ्रांत हैं तुम्हारा चित्त सपनों में कुशल हो गया है इसलिए सत्य से दूर हो गया है एक आदमी सोया है सपने देख रहा है सवाल है जागरण से यह आदमी कितने दूर है ऐसे तो कुछ भी दूरी नहीं हिला दो नींद अभी टूट जाए अभी इसी क्षण टूट जाए मगर यह भी हो सकता है जागने को राजी ही ना हो तुम हिला भी दो और ये करवट लेके फिर सो जाए क्योंकि ये एक ऐसा प्यारा सपना देख रहा था और उस सपने को नहीं छोड़ना चाहता मैं इलाहाबाद में था बोल रहा था एक मित्र सामने ही बैठे थे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं सामने ही थे इसलिए मैं देखने से चुप भी नहीं सका कि उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और फिर वो बीच में ही उठ गए बीच में ही उठे तो और भी मेरे ख्याल में आ गए उनकी पत्नी भी थी जब मैं बाहर निकल रहा था बोलकर तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे पति को क्या हुआ इतने भाव विभल होकर रो रहे थे बीच से उठ क्यों गए कोई बहुत जरूरी काम था पत्नी हंसने लगी उसने कहा कि कल मैं उनको लेके आपके पास आऊंगी आप ही उनसे पूछ लेना दूसरे दिन वो उनको लेके आई मैंने उनसे पूछा क्यों बीच से उठ गए उन्होंने कहा कि इसलिए उठ गया कि आधी बात सुनी और मन ऐसा आतुर होने लगा कि चल पड़ू इस राह पर फिर डर लगा पत्नी है बच्चा है परिवार है अच्छी नौकरी है और तब मुझे ऐसा लगा कि पूरी बात सुननी अभी ठीक नहीं मैं डर के कारण उठ गया मैं ऐसा भाव विभल हो रहा था कि मुझे ये भय सताया कि अगर ये बात मेरी समझ में पूरी आ गई तो मैं घर वापस न लौट सकूंगा आप मुझे क्षमा करें बीच से उठना उचित नहीं था अशिष्ट था सामने ही बैठा था इसलिए बहुत देर मैंने संकोच भी किया लेकिन अपनी जिंदगी बचाऊं कि शिष्टाचार मुझे उनकी बात समझ में आई मैंने उनसे कहा परमात्मा तो पास है इतने पास था कि तुम शायद आधा घड़ी और बैठे रह गए होते तो एक नए जीवन की शुरुआत हो गई होती बस मंजिल करीब आते आते छूट गई किनारा पास आते आते दूर हो गया तुमने नाव दूसरी तरफ मोड़ दी संत एक तरफ कहते हैं वह सहज उससे सहज और क्या होगा क्योंकि वह हमारा स्वभाव है वह हमारे भीतर विराजमान है उससे ही तो हम जन्मे हैं वही तो हमारा मूल उद्गम स्रोत है हम गंगा तो वह गंगोत्री है हम गंगा हैं तो वह गंगा सागर है वही स्रोत है वही अंतिम मंजिल है दूर कैसे है पास से भी पास है मोहम्मद ने कहा ये जो तुम्हारी सांस धड़कती उससे भी वो ज्यादा पास है उपनिषद कहते हैं वह पास से भी पास और दूर से भी दूर दूर है तुम्हारे कारण पास है उसके कारण मगर सवाल तो तुम्हारा है वह तो तुम्हारे पास भी आके खड़ा हो और तुम आंख ना खोलो वो तुम्हारे हाथ में हाथ दे और तुम हाथ झटक लो वो तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलता रहे लेकिन तुम लौट के ना देखो सूरज भी निकला हो और तुम आंखें बंद किए खड़े रहो तो सूरज क्या करे इसलिए विरोधाभास मत समझना खाला के घर ना ही भक्ति है राम की दाल भात है नहीं खाए के काम की आसान नहीं है कि दाल भात की तरह खा लिया पियोगे तो पहले तो जहर मालूम पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी आदत जहर को पीने की पड़ गई है तुम्हें जहर अमृत जैसा मालूम पड़ता है तो अमृत जहर जैसा मालूम पड़ेगा एक घूट गले से ना उतरेगी तुम्हारा सारा प्राण जन्मों जन्मों से गलत का अभ्यास ही हो गया है झूठ में तुम ऐसे रच पच गए हो कि सत्य को अपने भीतर न ले जा सकोगे ले भी जाओगे तो असत्य करके ले जाओगे विकृत करके तोड़ फोड़ के मैंने सुना है जर्मनी के एक विचारक केसरलिंग संयोग वसात केसरलिंग के बेटे का बेटा यहां सन्यासी मौजूद है काउंट केसरलिंग के पास एक जापानी केतली कप चाय का पूरा का पूरा सेट था नौकर की भूल से केतली गिर पड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई बहुत बहुमूल्य केतली थी बहुत प्राचीन थी किसी जैन फकीर ने भेंट दी थी काउंट केसरलिंग पूरब की यात्राओं पर आए थे बहुत बार ईश्वर की तलाश में भारत में भी वर्षों घूमे थे जापान भी गए थे बड़े दुखी हुए केटली को किसी तरह जोड़ जाड़ के वापस जापान भेजा किसी बड़े कारीगर के पास आंख ठीक ऐसी ही केतली वापस बना के भेज दी जाए जो भी दाम होंगे दूंगा कोई छह महीने के बाद उस जापानी कुशल कारीगर ने केतली बना के भेजी केसलिंग ने बड़ी उत्सुकता से पार्सल खोली फिर से ठोंक लिया उस जापानी ने क्या किया दोनों भेज दी थी जो इन्होंने भेजी थी वो भी ताकि तुम मिला लो और नई भी भेजी थी बिल्कुल वैसी ही बनाई थी सिर्फ एक भूल हो गई वो भी भूल काउंट के सलिंग की खुद की थी जैसी पहली केतली टुकड़े टुकड़े होके जुड़ी थी वैसे ही उसने टुकड़े टुकड़े करके जोड़ के दूसरी केतली भी भेजी थी बिल्कुल ठीक वैसी जरा रत्ती भर भेद नहीं था भूल तो काउंट केसलिन की थी साफ लिखना था उन्हें क्या पता लेकिन भूल होना स्वाभाविक थी लेकिन जापानी कलाकार भी क्या करे जब उससे कहा गया कि ठीक ऐसी तो पुरानी आदत जीवन भर का संस्कार चीज जैसी है वैसी ही बनाने में ही उसकी प्रसिद्धि थी तो उसने बना दी केतली लेकिन वैसे ही टुकड़े ठीक वैसे ही टुकड़े एक तुम्हारा चित्त है जन्मों जन्मों की एक उसकी कुशलता है वो सत्य को भी जब अपने भीतर ले जाता है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर लेता है झूठ की तरह जमा लेता है वो सत्य को भी सत्य की तरह नहीं पी सकता पहले उसे असत्य करेगा तब पिएगा वो सत्य को भी जब तक खंड खंड ना कर ले झूठ को आत्मसात करने की आदत इतनी पुरानी है कि अब तुम सिर्फ झूठ को ही आत्मसात कर सकते हो सत्य भी तुम्हारे द्वार पर झूठ की तरह आए तो ही तुम स्वागत कर सकते हो अन्यथा तुम स्वागत ना कर सकोगे इसलिए बुद्धों का तो तुम स्वागत नहीं करते पंडितों का पुरोहितों का स्वागत करते हो पंडित पुरोहित कौन है जो सत्य को इतना झूठ कर देते हैं कि वो तुम्हारे बचाने के योग्य हो जाता है जो सत्य को इतना विकृत कर देते हैं इतना लीप पोत देते हैं कि तुम्हारी झूठी दुनिया में समाविष्ट हो सके पंडित पुरोहित बुद्धों और तुम्हारे बीच एक महान कार्य में संलग्न होते हैं वो महान कार्य ये है कि वो सत्य में से सत्य छीनते और सत्य को झूठ के वस्त्र पहनाते कठिनाई परमात्मा की तरफ से नहीं है साहब का घर दूर सहज न जानिए वो दूरी तुम्हारे ही भीतर है तुम्हारे भीतर जितना चित्त का फैलाव है जितने विचारों की भीड़ उतनी दूरी विचार कम होते जाएं दूरी कम हो जाएगी एक कदम नहीं उठाना है परमात्मा तक पहुंचने के लिए सिर्फ विचार से खाली हो जाओ निर्भर हो जाओ निर्विचार हो जाओ निर्विकल्प हो जाओ और परमात्मा अपने भीतर आंख बंद किए किए अपने घर में बैठे बैठे उपलब्ध हो जाता है जिस दिन परमात्मा पाया जाता है उस दिन ये भी कहना ठीक नहीं मालूम होता कि मैंने परमात्मा पाया बुद्ध को जब पहली दफा ज्ञान हुआ और आकाश से देवता उतरे और ब्रह्मा ने उनकी पूजा की और पूछा कि आपको क्या मिला तो बुद्ध हंसे और उनका मिला कुछ भी नहीं हाँ खोया जरूर कुछ अपने को खोया और मिला मिला कुछ भी नहीं ब्रह्मा ने कहा उलझाइए मत सीधी साफ बात करिए आप सत्य को उपलब्ध हो गए हैं यही सोच के तो हम आपकी पूजा प्रार्थना को आए और आप कहते हैं कुछ मिला नहीं बुद्ध ने कहा फिर दोहराता हूं कि कुछ नहीं मिला जो मिला ही हुआ था उसको जाना उसको मिलना कैसे कहे वो मेरे भीतर मौजूद ही था सिर्फ मुझे पता नहीं था होश नहीं था सुरति नहीं थी स्मृति नहीं थी जैसे खजाना गड़ा हो घर में और तुम भूल गए कि कहा गड़ाया है और फिर एक दिन तुम्हें याद आ गई यह नक्शा हाथ लग गया और तुमने खजाना खोद लिया तो कुछ पाया पाए हुए को ही पाया तो इसको पाना क्या कहना बुद्ध ठीक कहते हैं कि मैंने खोया कुछ खोया अपना अहंकार खोया अपना अज्ञान खोई अपनी जड़ अंधी आते खोया अपना चित्त मन मन का व्यापार पाया पाई समाधि जो कि सदा से ही मेरे भीतर मौजूद थी जिस दिन भी विचारों की भीड़ को विदा कर देता उसी दिन मिली थी अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर वचन को मानिए पलटू कहते लेकिन एक बात तुम्हें याद दिला दू इस सत्य की खोज में बहुत होश से चलना क्योंकि गिरे तो चकना चूर स्वभावता है जो लोग समतल भूमि पर चलते हैं राजपथ पर चलते हैं वो गिर भी पड़े तो चकनाचूर नहीं हो जाएंगे लेकिन हिलेरी और तेंजिंग अगर एवरेस्ट से गिरेंगे तो चकनाचूर नहीं होंगे तो क्या होंगे जितनी ऊंचाई पर चढ़ोगे उतने ही चकनाचूर होने का डर है इसलिए हमारी भाषा में एक शब्द है योग भ्रष्ट लेकिन भोग भ्रष्ट शब्द नहीं भोगी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता और कहा गिरेगा गिरने को अब कोई जगह नहीं बची वो पहले से बैठे हैं वहां जहां कोई गिर सकता था स्वर्ग से तो भ्रष्ट होते हैं लोग नर्क से भ्रष्ट नहीं होते तुमने सुना कभी कोई नर्क से भ्रष्ट हो गया और नर्क से निकाल दिया गया हाँ अदम को स्वर्ग से तो निकाला गया नरक से तो किसी को नहीं निकाला जा सकता निकालोगे तो भेजोगे कहा और तो कोई जगह ही नहीं उससे नीचे इसलिए योगी भ्रष्ट हो सकता है इसका इतना ही अर्थ है कि योगी ऊंचाइयों पर उड़ता है जितनी ऊंचाइयों पर उड़ते हो उतने ही पंख टूटने का डर है पर्वत शिखरों पर चढ़ोगे जैसे जैसे ऊंचाई करीब आएगी श्वास लेना मुश्किल होने लगता है जैसे जैसे ऊंचाई करीब आएगी थोड़ा सा भार भी बहुत भारी हो जाता है जैसे जैसे ऊंचाई करीब आएगी वैसे ही रास्ते सकरे और खतरनाक होने लगते और एक पैर चूका कि फिर बचने का उपाय नहीं जैन फकीर रिंझाई अपने शिष्यों से एक प्रयोग करवाता था उसने अपने आश्रम में एक फीट चौड़ी और सौ फीट लंबी एक लकड़ी की पट्टी बनवा रखी थी वो लोगों से कहता कि इस पे चलो लोग बड़े हैरान होते कि इसमें कौन सी खूबी की बात है बच्चे भी चल जाते बूढ़े भी चल जाते एक फीट चौड़ी सौ फीट लंबी लकड़ी की पट्टी आश्रम में रखी थी उस पर चलने को कहता वो जो भी कोई उससे पूछता कि ध्यान क्या है वो कहता पहले इस लकड़ी पे चलो लोग चल के पूछते कि हमें हैरानी करने वाली बात है इस लकड़ी पे चलने से ध्यान का क्या संबंध हो कहता जरा ठहरो फिर लकड़ी को उठवा के आश्रम के दो मकानों की छतों पर रखवा देता अब कहता अब चलो वही लकड़ी एक फीट चौड़ी सौ फीट लंबी मगर अब दो छतों के बीच में रखी अब गिरे तो गए काम से जो लोग मजे से चल गए थे उस लकड़ी पर उनके भी हाथ पैर कपने लगते वो कहते कि अब नहीं चल सकते लेकिन रंजाई कहता कि फर्क क्या है तुम्हें क्या भेद पड़ता है कि लकड़ी कहां रखी जमीन पर रखी है कि आसमान में रखी क्या फर्क पड़ता है उतनी ही चौड़ी है उतनी ही लंबी है वही तुम हो तुम में और लकड़ी में कोई फर्क नहीं लकड़ी कहां रखी इससे फर्क क्या पड़ता है वे लोग कहते हैं हम समझ गए आपका मतलब अब कृपा करो मगर चलवाओ मत रिंझाई उस लकड़ी पे चलता कुछ अपने शिष्य जो ध्यान में गहरे उतर गए थे उनको चलवा था कहता कि ये चल रहे हैं तुम भी चल सकते हो मगर नए लोग तो बहुत घबराते हैं कि जान का खतरा है इसमें क्या खतरा है क्योंकि अब होश से चलना होगा जमीन पर रखी थी सोए सोए भी चल गए तो चल गया गिर भी जाते तो क्या हर जाता गिरते तो गिरते कहा पैर भी नहीं मोचता अब गिरे तो फिर भी टूट सकता है अब होश से चलना होगा जितनी ऊंचाई उतना होश और जितना होश उतनी ऊंचाई अन्यों ने आश्रित है ऊंचाई बढ़ती है होश बढ़ाना पड़ता है होश बढ़ता है ऊंचाई बढ़ती है जिस दिन परम ऊंचाई पर तुम पहुंचते हो उस दिन परम होश और जब परम होश होता है तो परम ऊंचाई अरे यहां पलटू गिरे तो चकनाचूर वचन को मानिए इसलिए बहुत संभल के चलना बहुत होश पूर्वक चलना पहले कबर खुदाए आशिक तब हुजिए इसलिए तैयारी से चलना पहले कब्र खुदा लेना और फिर आशिक होना पहले कब्र खुदाए आशिक तब हो जिए सिर पर कफन बांधी पांव तब दीजिए जब इतनी तैयारी हो प्राणों को गमाने की तो फिर कोई हर्जा नहीं जीवन को चढ़ा देने की सामर्थ हो तो महाजीवन मिलता है निश्चित मिलता है लेकिन ये कोई सस्ता सौदा नहीं है इससे महंगा और सौदा क्या होगा आशिक को दिन रात ही ना ही है सोबना प्रेमी को सोना कहा है जागना ही जागना है अरे यहां पलटू बेदर्दी मासूक दर्द कब खोबना एक क्षण को भी प्रेमी का दर्द नहीं खोता पीड़ा उसके हृदय में गूंजती ही रहती तीर उसके रोए रोए में समाई होती स्मरण प्रीतम का बना ही रहता है नींद में भी सौ सौ जन्म प्रतीक्षा कर लू प्री मिलने का वचन भरो तो पलकों पलकों सूल बुहारूं आंसुओं सिंचू सौरभ गलियां भवरों का भवरों पर पहरा बिठला दू कहीं न जूठी करने कलियां फूट पड़े पतझर से लाली तुम अरुणारे चरण धरो तो लट बिखराए जोग रमाए प्रीति कुमारी तुम्हें बुलाए बैरन पीड़ा तुम बिन मन में बिना धुएं का हवन कराए सांस सांस फिर रास रचा ले बन घनश्याम उमड़ बिखरो तो रात न मेरी दूध नहाई प्रात न मेरा फूलों वाला तार तार हो गया निमोही काया का रंगीन दुसाला जीवन सिंदूरी हो जाए तुम चितवन की किरण करो तो सूरज को अधरों पर धर लू काजल कर डालू अंधियारी युग युग के पल छिन छिन गिनकर बाट निहारू प्राण तुम्हारी सांसों की जंजीरें तोड़ू तुम प्राणों की अगन धरो तो सौ सौ जन प्रतीक्षा कर लू प्री मिलने का वचन भरो तो सांसों की जंजीरें तोड़ू तुम प्राणों की अगन हरो तो श्वास श्वास में पुकार धड़कन धड़कन में स्मृति न सोते चैन न जागे चैन दिन और रात का भेद मिट जाता है प्रेमी को जब ऐसी स्मृति पकड़ लेती कि तुम भुलाना भी चाहो तो भुला ना सको तभी जानना कि मिलन संभव है तब तो हर तरफ से उसके इशारे मिलने लगते महुए के पीछे से झांका है चांद पिया आ आंगन में बिखराए जूही के फूल लहरों पर तिराए सपनों के फूल नैन मुंदलो बड़ा बांका है चांद पिया आ बांट गई सांझिन हवाएं पराग बाकी स्वर लौट गए शेष वही राग टेसु के फूल सा का है चांद पिया आह प्रीति से नहाया है तन का हिरन चुपके से चुनता है कुरी किरण जीतो तो इससे लड़ाका है चांद पिया आ परमात्मा को भक्त प्रेमी की तरह खोजता है परमात्मा उसके लिए प्रीतम है या प्रीतमा है तब सुबह उगते सूरज में भी वही चांद में भी वही अंधेरे में भी वही प्रकाश में भी वही पूर्णिमा भी उसकी अमावस भी उसकी लोगों में भी वही चारों तरफ उसका मंदिर निर्मित होने लगता है सारा अस्तित्व उसका मंदिर हो जाता है चांद तारे उसके मंदिर की ही सजावट हो जाती जो तुझको है चाह सजन को देखना करम भरम दे छोड़ जगत का पेखना बांध सूरत की डोर शब्द में पिलेगा अरे हाँ पलटू ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना मिलेगा जो तुझको है चाह सजन को देखना उस प्यारे को अगर देखना हो साजन को अगर देखना हो तो एक बात छोड़ दो कर्म भनम दे छाड़ी जगत का देखना ये ख्याल छोड़ दो कि तुम्हारे करने से कुछ होगा परमात्मा तुम्हारे कृत्य से नहीं पाया जाता तुम्हारी प्रीति से पाया जाता है आरती उतारो व्रत उपवास करो नग्न होकर जंगलों में भटको करो लाख उपाय तुम उसे ना पा सकोगे और कुछ भी ना करो सिर्फ उसकी सूरत ही तुम्हारे भीतर उतर जाए सिर्फ उसकी गूंज तुम्हारी श्वास श्वास में समा जाए और वह मिला निश्चित ही मिला देर नहीं होगी मिलने में कर्म भरम दे छाणी जगत का पेखना ये जो कर्म का भ्रम है कि मैं कुछ कर लूंगा धन में चल जाता पद में चल जाता प्रार्थना में नहीं चलता लेकिन हमने प्रार्थना को भी कर्म बना लिया है लोग कहते हैं प्रार्थना की या नहीं आज प्रार्थना की या नहीं प्रार्थना कहीं की जाती पूछना चाहिए आज प्रार्थना में हुए या नहीं कर्म की भाषा ठीक नहीं है प्रार्थना के संबंध में वो तो डुबकी मारना है भावना है कृत्य नहीं इस भेद को ठीक से समझ लो संसार में जो भी पाया जाता है कृत्य से पाया जाता है और परमात्मा में जो भी पाया जाता है झोली फैला के पाया जाता है कृत्य से नहीं जो भी पाया जाता है हृदय को खोल के पाया जाता है श्रम से नहीं विश्राम में पाया जाता है तुमने यह क्या कर दिया कि मैं गाता हूं भर भर आता है हिया कि मैं गाता हूं भक्त कुछ नहीं करता है परमात्मा कुछ करता है भक्त तो सिर्फ करने देता है भक्त का अर्थ है जो परमात्मा को बाधा नहीं डालता जो कहता जो तेरी मर्जी तू कर बाएं चला तो बाएं दाएं चला तो दाएं उठा तो उठा गिरा तो गिरा सुख दे तो सुख दुख दे तो दुख तू जो दे चूंकि तू देने वाला है इसलिए सबका स्वागत है खेर मेरी वीणा को संगीत उठा कि गीत गा कि बांसुरी बजा कि मुझे मौन में छोड़ दे तू जो कर मैं तेरे हाथ में हूं तुमने यह क्या कर दिया कि मैं गाता हूं भर भर आता है हिया कि मैं गाता हूं यह कौन आग है मीठी मीठी मन में भीतर भीतर तुमने कैसे सुलगाई कुछ ऐसे झनका दिए तार बीणा के हर सांस गीत बनकर अधरों तक आई यो तो मिट्टी थी इसमें ऐसा क्या था तुमने सोना कर लिया है कि मैं गाता हूं भर भर आता है हिया कि मैं गाता हूं जैसे सावन की सनसन सनन समीरन लतिकाओं के तनमन पुलका जाती है जैसे कि ओस की बूंद शिथिल फूलों का सौरव पराग छूकर छलका जाती है जैसे अमराई महके तो कोयल के पागल प्राणों की हूप बहक उठती है वैसे ही बहका बहका प्राण पपिया रह रहे पुकारता पिया कि मैं गाता हूँ भर भर आता है हिया कि मैं गाता हूँ कोई जादू है इंद्र जाल है कोई ऐसा वरदान कहा से तुमने पाया जिस पत्थर को छू लिया जगत ने पूजा जिसके भीतर बस गए प्राण कहलाया लगता है जड़ तन में कुछ चेतन भी है जो गा देता हूं दुनिया दोहराती है तुमने ही तृण को वंशी बना दिया है मैंने ऐसा क्या किया कि मैं गाता हूं बरबर आता है हिया कि मैं गाता हूं भक्त तो चौंकता है जब उसके भीतर गीत उठने लगते जो उसके गाए हुए नहीं भक्त तो चौंकता है जब उसके हृदय में प्रार्थनाएं जगने लगती जो कि उसकी निर्मित नहीं जब उसके भीतर गायत्री जगती है ओंकार का नाद होता है तब भक्त वैसा ही अवाक रह जाता है चमत्कृत जैसे तुम्हारे सामने कोई अनूठी घटना घट गट जाए कोई ऐसी घटना घट गट जाए जो प्रकृति के नियम के अनुकूल नहीं है कि पत्थर चलने लगे कि पत्थर में पंख लग जाए और पत्थर उड़ने लगे कुछ ऐसी घटना जब भक्त के भीतर घटती तो वो भी चौंक जाता है क्यों क्योंकि मैंने तो किया नहीं ये प्रार्थना कैसे हो रही मैंने तो किया नहीं ये अर्चना कैसे जगी है मैंने तो फूल सजाए नहीं मैंने तो आरती उतारी नहीं आरती उतर रही है प्रेम इस जगत में सबसे बड़ा जादू है उससे बड़ा कोई जादू नहीं भक्त प्रेम के जादू में डूब जाता है जो तुझको है चाह सजन को देखना करम भरम दे छाड़ी जगत का पेखना बांध सूरत की डोर शब्द से पिलेगा स्मृति की डोर बांधो याद की डोर बांधो बस कच्चा धागा याद का काफी है और उस स्मृति के धागे को पकड़कर चल पड़ो गहरी डुबकी मारो जिसको बुद्ध ध्यान कहते हैं उसी को भक्त सुरति कहते हैं असल में बुद्ध से ही आया शब्द बुद्ध ने कहा है सम्मासति सम्यक स्मृति वही स्मृति शब्द लोग व्यवहार में घिसते घिसते सुरति हो गया लोक व्यवहार शब्दों को गोलाई दे देता है स्मृति में थोड़े से कोने सुरती घिस पिस गई जैसे नदी में तुम पत्थर डाल दो घिसटता पिसटता चलता धक्के खाता गुजरता जब पहुंचेगा समुद्र तक तो तुम पाओगे गोल हो गए शंकर जी की पिंडी हो गई शंकर जी की पिंडी ऐसी बनती एक गोलाई आ जाती गोलाई में एक सौंदर्य एक स्तृणता है स्मृति शब्द में थोड़ा पुरुष भाव है सुरति प्यारी हो गई ज्यादा रसपूर्ण हो गई इसलिए कोई भाषा ऊपर से नहीं थोपी जा सकती और जब भी कोई भाषा ऊपर से थोपी जाती जो सदियों सदियों में घिसती पिसती नहीं वो बड़ी बेहूदी लगती ऐसी कोशिश इस देश में की गई डॉक्टर रघुवीर ने एक पूरी की पूरी हिंदी भाषा गढ़ डाली क्योंकि अंग्रेजी के बहुत से शब्द हैं जो पुरानी हिंदी में नहीं है होंगे भी कैसे और उनका उपयोग करना जरूरी तो रघुवीर ने भाषा गढ़ दी डॉक्टर रघुवीर से मेरा एक बार मिलना हुआ मैंने उनसे कहा कि आप शब्द गढ़ने में तो कुशल हैं लेकिन शब्दों में नौके हैं उनमें गोलाई नहीं है और मैंने यही उदाहरण दिया जैसे स्मृति और सुरति स्मृति संस्कृत है सुरति लोक भाषा स्मृति पंडित का शब्द है सुरति अपढ़ अज्ञानी का लेकिन जो सुरति में मजा है वो स्मृति में नहीं है डॉक्टर रघुवीर ने बड़े बड़े शब्द गढ़े मगर गढ़े हुए शब्द कृत्रिम लोग व्यवहार में आ ना सके रघुवीर की भाषा मर गई और न केवल रघुवीर की भाषा मर गई रघुवीर के कारण हिंदी का राष्ट्र भाषा होना असंभव हो गया क्योंकि उन्होंने जो शब्द दिए जिस रेलगाड़ी के लिए लोह पथ गामनी बिल्कुल ठीक अनुवाद कर दिया रेल यानी लोह पथ लोह पथ पर जो दौड़ती गामनी शब्द तो खूब गढ़ा लेकिन गढ़ा हुआ है थोथा है लोक भाषा ने घिसा नहीं लोक भाषा घिस देती और चीजों को बड़ा प्यारा कर देती जैसे अंग्रेजी में शब्द है रिपोर्ट गांव के किसान से पूछे वो कहता रपट लिखवा दी रपट ये ठीक अनुवाद है अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना हो तो रपट ये जो गांव का आदमी है इसको अंग्रेजी का कुछ पता नहीं मगर रपट कैसी रपट आती है जवान से रिपोर्ट्स जरा अटकती है रिपोर्ट जरा उधार मालूम होती सुगम नहीं सरल नहीं बांध सूरत की डोरी सब्दी को पलेगा बांध लो स्मृति का धागा डोर जैसे कोई कुएं में डोर लटकाता है ऐसे स्मृति की डोर लटका दो अपने हृदय के कुएं में और उसी डोर के सहारे उतर जाओ अरे हाँ पलटू ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना मिलेगा खूब कीमती बात कही ज्ञान के ही पार नहीं ध्यान के भी पार क्यों ज्ञान तो उधार है बासा है समझ में आता है कि ज्ञान से कभी किसी को नहीं मिला ज्ञान से कभी कोई ज्ञानी नहीं हुआ ज्ञान तो अज्ञान को छिपा लेता है बस ज्ञान तो धोखा देता है अज्ञानी को ज्ञानी बना देने का भ्रम पैदा कर देता है ज्ञान तो आडंबर है मूल रट लेता है वेद के वचन और ज्ञानी मालूम होने लगता है जिससे अंधा प्रकाश के संबंध में बातें करने लगे और बहरा संगीत की चर्चा छेड़ दे ऐसा मूड गीता कुरान बाइबल को दोहराने लगता है बस दोहरा सकता है ऊपरी सिखावन है उसके भीतर कोई अनुभव नहीं इसलिए ज्ञान के तो पार है ही मगर पलटू ने तो और भी गजब किया कहा ध्यान के भी पार क्यों क्योंकि ध्यान शब्द में भी ऐसा लगता है जैसे कुछ करना ध्यान भी क्रिया है ध्यान में भी करने की अकड़ बनी रहती है प्रेम तो होता है ध्यान किया जाता है प्रेम किया नहीं जाता इसलिए तो हम कहते हैं कि क्या करें मेरा उससे प्रेम हो गया तुमसे कोई अगर कहे करो इसको प्रेम सरकारी आज्ञा है तो तुम क्या करोगे तुम कहोगे भाई आज्ञा है तो ठीक है कोशिश करते ऐसी तो लोग कोशिश कर रहे हैं सरकारी आज्ञा के अनुसार पति पत्नियों को प्रेम कर रहे हैं पत्नियां पतियों को प्रेम कर रही हैं माँ बाप बेटों को प्रेम कर रहे हैं बेटे माँ बाप को प्रेम कर रहे हैं सरकारी आज्ञा है अब पत्नी है तो उसको तो प्रेम करना ही पड़ेगा लेकिन जो प्रेम करना पड़े वो झूठा होगा प्रेम करना नहीं पड़ता प्रेम होता है तुम्हारे बस के बाहर है तुम परवश होते हो तुम ना करना चाहो तो भी कुछ नहीं हो सकता ऊपर से उतरता है किसी अलौकिक लोक से आता है और पति पत्नी का प्रेम ही नहीं शिष्य गुरु के बीच जो प्रेम की अपूर्व घटना घटती है वो भी किए किए नहीं होती लाख करो चुप जाओगे और किसी तरह कर ली तो झूठी होगी मिथ्या होगी व्यवहार मात्र होगी हृदय सूखा का सूखा रह जाएगा रसधार न बहेगी ये प्रेम भी हो जाता है इसलिए तो कोई शिष्य नहीं समझा सकता कि क्या हो गया है उसे मेरे पास जो लोग संन्यास्त हुए उनकी अड़चन मेरे पास रोज पत्र आते लोग कहते हैं अच्छी झंझट में हम पड़ गए जो देखो वही पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया तुमने क्यों संन्यास लिया क्योंकि हम आंखें फाड़े रह जाते और कुछ उत्तर दे नहीं पाते क्योंकि जो उत्तर सही है वो वो नहीं समझ सकते अगर हम कहते हैं क्या करें प्रेम हो गया तो कहते हैं प्रेम प्रेम कुछ नहीं तुम सम्मोहित हो गए तुम पर कोई जादू टोना कर दिया गया ऐसे कहीं होता हम भी गए थे हमें कुछ नहीं हुआ तुम्हें कैसे हुआ प्रेम अव्याख्य अनिर्वचनीय और अव्याख्य अनिर्वचनीय है इसलिए परमात्मा का द्वार है क्योंकि परमात्मा भी अव्याख्य और अनिर्वचनीय पलटू कह रहे हैं ध्यान तो शायद तुम कर भी लो पालथी मार के बैठ जाओ योगासन साध लो आंख बंद कर लो प्राणायाम करो ध्यान लगाओ भीतर एक प्रकाश के बिंदु पर चित्त एकाग्र करो ये सब तो शायद तुम कर भी लो लेकिन प्रेम तुम कैसे करोगे और तुम्हारा किया जो है वो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता तुम्हारा किया परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता तुम्हारा किया बाधा बन जाएगा तुम्हारा हर कृत्य तुम्हारे अहंकार को और मजबूत करेगा कृत्य अहंकार का भोजन है और जहां अहंकार है वहां ब्रह्म का कोई साक्षात्कार नहीं अरे यहाँ पलटू ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना मिलेगा ज्ञान भी जाने दो ध्यान भी जाने दो प्रेम में डुबकी मारो उतर जाओ सूरत का धागा पकड़कर कड़वा प्याला नाम पिया जो ना जरे और प्रेम का ये प्याला पहले बहुत कड़वा मालूम पड़ेगा क्योंकि कभी पिया नहीं स्वाद भी सीखने होते स्वाद की भी कला होती मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन पहुंच गई शराब घर थक गई समझा बुझा के लड़के झगड़ के रो धो के सिर पीट के दीवार से सिर मार के लेकिन मुल्ला किसी बात में आए ही ना वो रोज शराब घर आखिर उसने आखिरी उपाय किया शराब घर पहुंच गई मुल्ला घबराया मुसलमान स्त्रियों को तो मस्जिद तक में जाने की मनाई है शराब घर की तो बात ही और जाके उसने बुरका उतार के रख दिया मुला ने करी क्या करती उसने कहा मैं भी पीऊंगी जब तुम पी रहे हो तो मैं क्यों रुकू इसके पहले कि मुल्ला कुछ कहे वो तो ऐसा अवाक ठगा सा रह गया भीड़ इकट्ठी हो गई उसकी पत्नी ने बोतल से उड़े ली शराब कभी पी तो थी नहीं पहले कि सोडा इत्यादि मिला है कि थोड़ा कुछ गठागत पी गई एक दो ही घूट लिए थे कि गिलास भी नीचे पटक दिया थू थू करने लगी और कहा कि हद हो गई इस बेस्वाद तिक्त कड़वी चीज को पीते हो वो मुल्ला हंसा और उसने कहा तू समझती थी कि हम यहां रोज मजा मौज करने आते अरे ये बड़ी तपस्या ये बड़ा कठिन कान अब तेरी समझ में आया अब भूल के मत कहना कि चले मजा मौज करने पहली दफा शराब पियोगे तो तिक्त लगेगी अभ्यास करना होगा प्रेम भी शराब है शराबों की शराब है उसके पार और शराब कहा उससे गहरी और शराब कहा कड़वा प्याला नाम पिया जो ना जरे लेकिन जिसने पी लिया उसकी फिर मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो है तो अमृत फिर वो न तो बूढ़ा होता और न मरता शरीर तो बूढ़ा होगा और मरेगा मगर तुम्हारी चैतन्य के भीतर की अवस्था शाश्वत युवा है उसका अनुभव शुरू हो जाता है जिसने प्रेम किया उसने अपने भीतर शाश्वत को जाना देखा देखी पिवे जवान सो भी मरे लेकिन ध्यान रखना दूसरे की देखा देखी मत करना कुछ लोग देखा देखी कर रहे हैं धर्म के जगत में देखा देखी खूब चल रही कोई मंदिर में पूजा कर रहा तो तुम भी पूजा करने लगे सोचते हो ये पूजा में कितना मस्त हो रहा मैं क्यों नहीं हो रहा उसकी पूजा भीतर से उमगी है तुम्हारी पूजा कागजी मैंने सुना है एक पुरानी सूफी कहानी एक आदमी को सम्राट ने बुलाया और उसका बड़ा सम्मान किया कारण उस आदमी ने पूछा कारण तो उसने कहा कि मैंने पता लगवाना चाहा कि हमारी राजधानी में सबसे सुंदर दंपति जिनके दाम्पत्य में प्रसाद हो वो कौन है बहुत खोजबीन करके तुम्हारी हमें खबर दी गई कि तुम जैसा पति पाना मुश्किल और तुम्हारी जैसी पत्नी पाना मुश्किल तुम्हारी पत्नी सदा सेवा में रत रहती तुम सुबह पांच बजे उठते हो तो वो चार बजे से उठ के चाय तैयार किए तुम्हारे पास बैठी रहती कि तुम्हें क्षण भर की देरी ना हो जाए तुम रात दो बजे लौटते हो तो वो दो बजे तक बैठी द्वार पर प्रतीक्षा करती तुम जब तक भोजन न कर लो वो भोजन नहीं करती और तुम्हारा भी प्रेम उसके प्रति ऐसा ही गहन हमारा खोजियों का दल निरीक्षण करता रहा है एक वर्ष में तुम दोनों के बीच एक बार भी कलह नहीं हुई तो ये एक लाख स्वर्ण असरसिया हम तुम्हें भेज देते आग लग गई सारे गांव में जब ये लेके स्वर्ण असरसिया घर पहुंचा तो पड़ोसियों को तो हाल तुम सोच सकते हो पड़ोसी स्त्री अपने पति से कहा कि लो अब मार लो अपना सिर दीवाल से बैठे ठाले एक लाख असरफियां मिल गई अब आज से हम भी अच्छा व्यवहार करें लड़ाई झगड़ा बंद मैं भी तुम पर तकिया नहीं फेंकूंगी और तुम भी गाली गलौज बंद करो आज से हम मधुर मधुर वचन बोला करेंगे प्यारे प्यारे वचन मैं तुम्हें खूब प्यारी प्यारी चिट्ठियां लिखी करूंगी तुम भी दफ्तर से खबर किया करो फोन भी किया करो दिन में दो चार बार कहीं से भी फोन कर लिया कि हे प्राण प्रिय पति को भी बात तो जची एक लाख स्वर्ण सरफिया और पत्नी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम नहीं आओगे तुम्हें भूखी बैठी रहूंगी रात तुम बीमार रहोगे तो मैं बैठ के पास तुम्हारा सिर दाबूंगी संयोग की बात उसी रात पत्नी के पति के सिर में दर्द था अब मजबूरी की तय कर लिया था तो भीतर तो कुड़ रही थी पत्नी की कब तक जागना थोड़ी बहुत देर सिर दावा ऐसे जोर जोर से दावा कि तो पत्नी को मार डालेगी क्या करेगी सिर दुख रहा है कि तुम मेरी जान लेना चाहती फिर याद आया कहा कि हे प्राण प्रिय मैं तो मजाक में कह रहा था थोड़ी देर पत्नी और जागी उसने कहा कि मुए अब सो भी जा इसे कब तक मैं जागती रहूंगी अवसर का है पतिदेव जो मैंने कहा सुना सो माफ करना ऐसे रात भर चला फिर फिर चूक जाए दूसरे दिन पति को कहा कि अब तू जा सम्राट के वहां और प्रार्थना करना उनसे हमारा भी दाम्पत्य जीवन अद्भुत है पति ने कहा मेरी तो हिम्मत नहीं होती तू ही जा इसी पे झगड़ा हो गया कि कौन जाए झगड़ते ही पहुंचे दोनों सम्राट ने अपने सिर से हाथ मार लिया उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा सोचे तो तुम यही झगड़ रहे मेरे सामने झगड़ रहे सम्राट के सामने ही एक दूसरे से बकवास होने लगी कि तूने मुए क्यों कहा था और तू सिर दबा रही थी कि मेरे प्राण ले रही थी और मैंने सुबह चार बजे आंख खोल के देखी तू वहां चाय लिए मौजूद ही नहीं थी पत्नी ने कहा मैंने कहा नहीं था कि नींद खुलने के पहले तुम जगो उसके पहले मुझे हुद्दा मार देना अब जगने के पहले कोई कैसे हुद्दा मारेगा और मैं कोई जोशी तो हूं नहीं कि मैं पहले से पता लगा लू कि तुम कब उठोगे सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं तुम्हारे पड़ोसी को पुरस्कार मिला है लेकिन देखा देखी कुछ भी करोगे इससे हल होने वाला नहीं प्रेम ही नहीं है तो देखा देखी क्या होगा लोग देखा देखी प्रार्थना कर रहे हैं प्रेम भी नहीं हो पाता देखा देखी तो प्रार्थना तो कैसे होगी देखा देखी तिवे जवान सो भी मरे जो देखा देखी करेगा वो भी धोखा खाएगा वो अभिमानी मरेगा वो तो मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा धर पर शीश न होए उतारे भूई धरे अरे हाँ पलटू छोड़े तन की आस सड़क पर घर करे उसका ही है स्वर्ग जो अपने सिर को उतार कर रख देने को तैयार हो अपने अभिमान को अपने अहंकार को गला देने को तैयार हो राम के घर की बात कसौटी खरी है वहां धोखा ना चलेगा झूठा टिके न कोई आज की घड़ी ले आज तक कोई झूठा उस कसौटी पर टिक नहीं सका है इसलिए धोखाधड़ी में मत पड़ना पाखंड में मत पड़ना देखा देखी में मत पड़ना दूसरों का आचरण देख के उधार आचरण मत करना मिथ्या आचरण की वहां कोई गति नहीं प्रमाणिकता की गति तुम्हारा अपना हो तुम्हारा अपना हो तो पत्थर भी हीरा है और हीरा दूसरे का हो तो हीरा भी पत्थर है झूठा टिके न कोई आज की घड़ी ले जीते जो मर जाए सीख ले हाथ में जीते जी जो मरने की कला जानता है क्या है जीते जी मरने की कला ऐसे जीना जैसे कि मैं हूं ही नहीं वही वही मुझसे जिए मैं न जीऊ मैं उसकी बांसुरी बन जाऊं उसके ओठों से जो गीत आए मुझसे बहे मैं बाधा ना दू अरे हाँ पलटू ऐसा मर्द जो हो परे यही बात में इस प्रेम पंथ में इस कठिन राह में प्रेम पंथ ऐसो कठिन इसमें वही आए जो ऐसा मर्द हो जो ऐसा साहसी हो और जिनमें ऐसा साहस वे निश्चित पहुंच जाते हैं मेरे इस दीवाने पर पर तुमको क्यों होती हैरानी परिणाम यही होता जिसके उर में संचित आगी पानी तप भास बन गया तन फिर भी यौवन घन मन आशा न भरी विद्युत में कितनी कसक कड़क बादल में कितनी तड़प भरी दो दिन में मिट जाने वाला यह प्रणी व्यवहार नहीं आदान प्रदानों से सीमित मेरा जीवन व्यापार नहीं घुल मिल जाने की अभिलाषा है अंत यहाँ अभिसार नहीं और अंतरिक्ष की सीमा का सच कहता पारावार नहीं जब इस पथ पर चलते चलते अपने प्रिय को पा जाऊंगा चिर श्रांत क्लांत सतवर उसकी गोदी में सो जाऊंगा हिम कंसा किरणों में मिलकर उज्जवल प्रकाश बन जाऊंगा जग याद करेगा व्यथा कथा मैं तो प्री में मिल जाऊंगा जो उस प्यारे में बिल्कुल गलने मिलने को राजी केवल उन दुस्साहसियों के लिए प्रेम का पंथ है और तुम्हारे पंडित पुरोहित क्या कहते कि कलयुग में बस भक्ति मार्ग से ही पहुंचा जा सकता कलयुग में क्योंकि कलयुग में सच्चे आदमी कहा इसलिए भक्ति मार्ग से पहुंचा जा सकता है इन सज्जनों को कहो भक्ति मार्ग से कठिन और कोई मार्ग नहीं क्योंकि प्रेम से ज्यादा बलिदान और कौन मांगता है अपने गर्दन को काट के रखने की हिम्मत है तो ही प्रेम के रास्ते पर तुम्हारी गति हो सकती है और नकल ना चलेगी देखा देखी ना चलेगी उधारी ना चलेगी प्रेम तो प्रमाणिक हो तो ही प्रेम होता है और प्रमाणिक प्रेम अपने आप प्रार्थना बन जाता है और प्रार्थना बन जाती तुम्हारे पंख ले चलती तुम्हें परमात्मा तक ऐसी धन्य घड़ी तुम्हारे जीवन में आए प्रत्येक का जन्म सिद्ध अधिकार है लेकिन साहस होना चाहिए अपना अधिकार मांगने का मिल सकता है तुम्हें लेकिन द्वार खटखटाओ द्वार निश्चित खुलेंगे जीसस ने कहा मांगेगा जो मिलेगा द्वार जो खटखटाएगा उसके लिए द्वार निश्चित खुलते आज इतना